सर्वभूतस्तम आत्मा सर्वूता च आत्मनि संपश्यन ब्रह्म परम याति नान्यन हेतुना आत्मा सर्वभूत में स्थित है और सारे भूत आत्मा में स्थित है जिसको भगवान ने गीता में कहा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति परमात्मा में सब कुछ है सर्वत्र परमात्मा है यहाँ कहते आत्मा में सब कुछ है और सर्वत्र सर्वभूत में आत्मा है आत्मा परमात्मा एक ही है शुद्ध चेतन है सर्वभूत में स्थित आत्मा सर्वभूत में आश्रित होकर के स्थित नहीं सदरूप से विद्यमान और सर्वभूतानि च ने आत्मा में सारे कुछ है आत्मा ही अधिष्ठान है सब कुछ उसमें अध्यस्त है एक ही आत्म तत्व है सर्वभूता च आत्मनि आत्मनि सर्व आत्मा में सब कुछ है बहुत आत्मा नहीं एक आत्मा में सारे कुछ है सर्वभूता नहीं तो बहुवचन है किंतु आत्मा में सब कुछ है ऐसे संपसन परम ब्रह्म ब्रह्म का ऐसे साक्षात्कार होता है अहम अस्में ब्रह्म तब पर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है अन्य कोई हेतु नहीं है सर्वभूतस्तम का अर्थ क्या निखिलेशु स्थावर जंगमेशु तिष्ठती सर्वभूतस्तम स्थावर जंगम स्थावर वृक्ष भी है जड़ भी है जंगम चलने वाला स्थावर में कोई चेतन है हाँ स्थावर जंगम में जड़ चेतन अर्थ नहीं है जंगम तो चेतन है और स्थावर जड़ चेतन दोनों है स्थावर जंगम से तिष्ठति वही विष्णु है व्यापक है सर्वत्र स्थित है वेवेष्टि चराचरम चराचर सर्व में स्थित है स्थावर जंग में चर कौन है और अचर चराचर सर्वत्र स्थित है सर्वभूतस्तम भूतस्त तम आत्मान आत्मा सर्वभूत में स्थित है वो आत्मा कौन है अस्मत् प्रत्यय व्यवहार योग्यम वो आत्मा है स्वयं प्रत्येगात्मा अस्मत् प्रत्यय व्यवहार का योग्य अस्मत् प्रत्यय व्यवहार होता है अहम अहम इसे व्यवहार का योग्य है शुद्ध चेतना तो विषय है उसके साथ स्थूल शरीर अंतकरण ये सब चिदाभास को मिला करके जीव शब्द का अर्थ चैतन्यम यदधिष्ठानम लिंग देहश्चय पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था तत्संगो जीव उच्यते अधिष्ठान चैतन्य लिंग शरीर और चिदाभास चिच्छाया लिंग देहस्था लिंग देह सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत अंतकर्ण में चिदाभास है चिदाभास अधिष्ठान चैतन्य सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर कहने से उसका कारण भी ग्रहण हो जाएगा अज्ञान भी रहेगा उसके बिना सूक्ष्म शरीर नहीं रह सकता है ये समुदाय को जीव कहते हैं उसमें वाच्यार्थ होता है चिदाभास अंतकर्ण में चेतन का प्रतिबिंब और लक्ष्यार्थ होता है अधिष्ठान चैतन्य तो अधिष्ठान चैतन्य रूप से अस्मृत प्रत्यय व्यवहार योग्य अधिष्ठान के बिना अध्यस्त की सत्ता स्फूर्ति नहीं होती काल बताया था इसलिए अधिष्ठान चेतन ही अस्मत् प्रत्यय व्यवहार योग्य शुद्ध चेतन है अज्ञान के कारण देहादि में अहम बुद्धि होती है अहंकार किंतु अधिष्ठान अस्मत् प्रत्यय व्यवहार योग्य स्वयं प्रकाश चिद रूप आत्मा इसमें सारे कुछ भूत है सर्वभूतानी च आत्मनि सर्वभूतानी निखिलानी जैसे पहले सर्वभूत कहा था स्थावर जंगम यहाँ भी स्थावर जंगमानी सर्वभूतानी सर्वभूतानी च आत्मनि चकार आधार आधे भाव वित्क्रमार्थ उसमें आधार आधे भाव कुछ नहीं है घट में जल रहता है कुंड में बदर रहेगा दोनों की सत्ता समान है अधिष्ठान चेतना पारमार्थिक है और सारे कुछ प्रपंच अध्यस्त है इसलिए आधार आधे भाव नहीं है और आत्मा किसी में आधे रूप से नहीं रहता है सारे प्रपंच उसमें अध्यस्त है इसलिए सर्वभूतानी च आत्मनि आत्मा में संपूर्ण भूत है उसमें अध्यस्त है आरोपित है मरुभूमि में जो जल दिखता है वो आरोपित है अधिष्ठान आधे आधार अधिकरण हो जाएगा मरुभूमि और जल उसमें आधेय आधेय है ना नहीं जल जल है ही नहीं आधेय कैसे होगा कल्पित है इसलिए आधार आधेय भाव नहीं है ये कहने के लिए सर्वभूतानि च आत्मनि अध्यस्त है आत्मनि आनंद आत्मनि अहम प्रत्यय योगी जो आत्मा वही आनंद स्वरूप है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म जो आनंद रूप का वही आत्मा क्योंकि आत्मा सबसे निरतिश प्रेम आस्पद होता है सबसे प्रियतम है आत्मा श्रुति तो कहती तदेत प्रेय पुत्रात प्रेय वित्तात प्रेय अन्यस्मात सर्वस्मात अंतरतरम इसे तो श्रुति कहती है और आत्मा में प्रेम दिखा जाता है मान भुवम ही भूयासम इति प्रेमात्मनि इच्छते आत्मा में प्रेम है आनंद रूप आत्मा है अहम प्रत्यय योग्य है वो उसमें संपश्यन सम्यक पश्यन संपश्यन देखना और सम्यक देखना में अंतर है सम्यक प्रश्न कहा था संशय विपर्य मंत्रण अवलोकन राज्य में जो सर्प देख रहा है वो भी देख रहा है किंतु विपर्य है भ्रांति है तो सम्यक दर्शन नहीं है ठीक से नहीं देखा है कोई कहा था सर्प में देख रहा है देखा है कहते नहीं तुमने ठीक से नहीं देखा जाओ देखो दिख कर तो आया सर्प किंतु सम्यक नहीं देखा है क्यों सम्यक नहीं देखा विपर्य है भ्रांति है कोई कहता नहीं देखा सर्प जैसे लगा पता नहीं सर्प है या क्या है मैं दौड़ कर आ गया वो तो सम्यक देखा है नहीं क्या है कारण संशय संशय विपर्य मंत्रण जब संशय विपर्य नहीं भ्रांति नहीं कोई कहता नहीं सर्प ही है मैंने देखा सर्प ही है यथार्थ ज्ञान है यथार्थ ज्ञान है हम्म, भ्रांति से कोई सर्प देकर आकर नहीं कहेगा सर्प ही है जब भ्रांत है वो क्या कहेगा संशय करेगा तो दौड़ कर आया हाथ गिर करके हृदय में कंपन या सर्प ही है तो जोर से कहन से यथार्थ नहीं होता है वो भ्रांति है बाद में बाद हो जाता है भ्रम कैसे निश्चय होगा बाद में जाकर देखने पर सर्प ही रहता है रजू रहती रज में सर्प देकर आया दौड़ कर हाथ पर तोड़ तोड़ तोड़ करके जाकर देखा तो सर्प रहेगा रजू रहेगी रजू इसलिए भ्रम ज्ञान है भ्रांति काल में सर्प था या नहीं बाद में तो रज्जु थी भ्रम काल में सर्प नहीं था हम्म? हाँ भ्रम काल में सर्प रहे तो भ्रम कैसे होगा सर्प ज्ञान हो तो यथार्थ हो जाएगा सर्प तीनों काल में रज्जु में नहीं रहता है संशय विपर मंत्रण अवलोकन ब्रह्म का ज्ञान इसी प्रकार संशय विपर रहित तो ज्ञान आत्मा का ज्ञान होता है सबको अहम कहते समय चैतन्य अधिष्ठान चैतन्य है किंतु विपर्य संशय देहादि में अहम बुद्धि है मैं मनुष्य कहता है अहम गच्छामी पश्यामी ये विपर्य है तो ऐसे जो संशय विपर्य के भी ना देखता है अवलोकन साक्षात कुरबन साक्षात्कार करते हुए ब्रह्म परमम याति ब्रह्म शब्द का अर्थ है ब्रीही वृद्धो धातु से बनता है व्यापक तम वृद्धि सबसे बढ़ने वाला सबसे बृहत ब्रह्म का अर्थ बृहत बृहत्तम है सबसे बढ़कर उससे बड़ा कोई नहीं सबसे बृहत होने के लिए देश काल वस्तु परिचय शून्य ब्रह्म शब्द का अर्थ है ब्रिंह वृद्धो धातु से ब्रिंह नु अच्छ क्या प्रत्यय होता है मन प्रत्यय होता है अच्छ अ किसको होता है उपधा अनुसार जो नकार को अ हो जाएगा न को होगा तो री के आगे आ जाएगा तो क्यों नीचे लगेगा तो ब्रह धातु हो जाएगा ब्रह अगर मन मन इनका रहेगा मन ब्रह्मन नकारांत है ब्रह्म ब्रह्मन पुलिंग में क्या बनेगा ब्रह्मा ब्रह्माणु नपुंसक बनेगा ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्माणी बृहत देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य देश परिच्छेद क्या है अत्यंताभाव प्रतियोगित्व और काल परिच्छेद प्राग प्रत्युतम अथवा ध्वंस प्रत्युतम वस्तु परिच्छेद अन्योन्याभाव प्रतियोगित्व वस्तु परिच्छिन्न क्या है भाव प्रतियोगी और काल परिच्छिन्न प्राग भाव प्रतियोगी अथवा ध्वंस प्रतियोगी देश परिच्छिन्न अत्यंताभाव प्रतियोगी ये समझना अत्यंताभाव प्रतियोगी और अत्यंताभाव प्रतियोगित्व इसमें भेद है अत्यंताभाव प्रतियोगित्व किम देश परिच्छेद अथवा देश परिचिन्न तम और अत्यंता भाव प्रतियोगी क्या है देश परिचिन्न घट अत्यंताभाव प्रतियोगी तो है या अनन्याभाव प्रतियोगी तो है दोनों दोनों नहीं है प्रतियोगी तो नहीं घट तर्क समय पढ़ने वाले बताओ घट अत्यंत प्रतियोगी तो है या नहीं संदेह है ना अत्यंताभाव प्रतियोगी है अत्यंत प्रतियोगी तो घट में रहेगा घट अत्यंताभाव का प्रतियोगी भी है भाव का भी प्रतियोगी है ध्वंस का प्रतियोगी है प्रागह का प्रतियोगी है हाँ तो घट देश परिचन्न है काल परिचन्न या वस्तु परिचन्न तीनों है ब्रह्म में क्या परिच्छेद रहेगा देश परिच्छेद रहेगा या काल परिच्छेद या वस्तु परिच्छेद कुछ भी नहीं रहेगा ऐसे ब्रह्म है देश काल परिच्छेद शून्यम कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा देश काल वस्तु परिच्छेद रही तो क्या वस्तु बताओ कोई एक ब्रह्म को छोड़ करके दृष्टांत दृष्टांत तो ब्रह्म से भिन्न होगा ब्रह्म से भिन्न कोई होगा तो ब्रह्म भी देश परिचन्न नहीं दूसरे क्या देश परिचन्न वस्तु परिच्छेद दूसरे तो वस्तु परिचन्न नहीं होगा दूसरे यदि मान लिया ब्रह्म भी वस्तु परिचन्न नहीं होगा इसलिए दूसरा है ही नहीं ब्रह्म से भिन्न ऐसे परम ब्रह्म परमम याति परमम का तो उत्कृष्टम उत्कृष्ट अनुपचरितम परिचय उपचार प्रयोग करते थे ब्राह्मण जाति को भी ब्रह्म कहते या ब्रह्मा को भी ब्रह्म शब्द से कहते वेद को भी तब ब्रह्म कहते तो यहाँ ब्रह्म है वो अनुपचरितम देश काल वस्तु परिच्छेद रहित निरत से ब्रह्म है ऐसे को याति प्राप्त करता है याति कहता प्राप्त होती नान्य हेतु न याति ते देहली दीपक न्याय न संबध्यते याति परम ब्रह्म याति अन्य ने हेतु न याति तो याति का संबंध पूर्व के साथ होगा या उत्तर के साथ होगा दोनों परम ब्रह्म याति याति नान्य ने हेतु ना एक याति का संबंध ब्रह्म परम याति के साथ अन्य हो गया और याति नान्य ने हेतु ना नान्य ने हेतु ना उसके साथ ही अन्य हुआ याति शब्द मध्य में है देहली दीपक द्वार में दीपक रख दिया तो घर को भी प्रकाश करेगा बाहर को भी प्रकाश करेगा याति दीपक के समान हो गया बीच में पूर्व पर ब्रह्म परम के साथ संबंध हो जाएगा और नान्य तो न याति इसलिए कहा न याति उसके साथ भी करना न याति थी देहली दीपक न्याय न संबद्ध थे अन्य हेतुना के साथ न याति अन्य हेतुना न याति न प्राप्त अन्य न हेतु न अन्य किसे अन्य उक्त बोध व्यतिरिक्त न जो बोध हम अस्मि ब्रह्म संशय विपर रहित ज्ञान उससे भिन्न किसी हेतु से हेतु नागत कारण न याति ब्रह्म ज्ञान ही एक साधन है पहला आया था ध्यात्वा गच्छति ध्यात्वा मुनिर्गछति भूत योनिम दशम मंत्र में आया था ध्यात्वा गच्छति इत्यस्य व्याख्यानम ज्ञावा तम एकादश मंत्र में आया ज्ञावा तम मृत्युमत्येति ये ज्ञावा तम मृत्युमत्येति ध्यात्वा गच्छति का अर्थ ध्यान करके साक्षात्कार करे साक्षात्कार करके मृत्यु को अतिक्रम कर लेता है जो ध्यात्वा मुनि गच्छति भूत योनि इसका व्याख्यान हुआ उसका साक्षात्कार करके मृत्यु को अतिक्रम कर लेता है अमृत मुक्त हो जाता है नान्य पंथा विमुक्त इत्यस्य व्याख्यानम इदम सर्वभूतस्थम नान्य पंथा विद्यत नाय ये कहा था ज्ञावा तो मृत्यु मतेति नान्य पंथा विमुक्त नान्य पंथा विमुक्त जो है इसका व्याख्यान हो गया इदम सर्वभूतस्थम आत्मा सर्वभूता चात्मनि संपसन ब्रह्म परम याति नान्य हेतु न अन्य हेतु से नहीं जाता अन्य कोई मार्ग है ही नहीं मुक्ति के लिए यदा तो एवं ज्ञान नोत्पद्यते श्रवण मनन करने पर यदि ज्ञान साक्षात्कार अहम अस्मि ब्रह्म एवं का तो संशय विपर रहित ज्ञान संशय विपरहित ज्ञान यदि नहीं होता है तदा तद उत्पादने उपाय माह तो कैसे संशय विपरहित ज्ञान होगा इसके लिए उपाय कहते हैं साधना नहीं होता है तो फिर उपाय देखना पड़ेगा उपाय से करना उपाय अनुष्ठान करेंगे तो सिद्ध होगा इसलिए उपाय कहते हैं आत्मान अरणिम कृत्वा प्रणवंचोत्तरारणी ज्ञान निर्वथनाभ्यासात पाशम दहति पंडित आत्मान अरणिम कृत्वा प्रणवंच उत्तरारणी एक अरण्य मंथन करके वन्नी प्रकट करते हैं नीचे एक काष्ठ रखेंगे ऊपर एक काष्ठ रखेंगे उसके मंथन करने पर अग्नि प्रकट हो जाती है यहाँ इस प्रकार मथन करना है जैसे अरण्य मथन में धरे के साथ मथन करते रहे कितने समय करना चाहिए मालूम है अग्नि प्रकट होने तक अग्नि प्रकट होने के पहले छोड़ दिया तो कितने बार ऐसे करने से अग्नि प्रकट हो जाएगी अग्नि प्रकट होने छोड़ दिया फिर और एक बार क्या प्रकट होने के लिए पहले छोड़ दिया एक बार क्या दिन भर करते रहे प्रकट होने के पहले छोड़ दे तो प्रकट होगा अग्नि प्रकट होने तक करे तो एक बार मथन किया तो प्रकट होने तक मथन किया तब तो प्रकट हो जाएगी और मंथन जो देखा है मान को मालूम है काष्ट रह करके मथन कर से अग्नि प्रकट हो जाती है ये जो अरहर दाल खाते हैं उसके पेड़ लकड़ी इतने मोटा मोटा हमने देखा है ले करके मथन करके अग्नि प्रकट करते हैं यज्ञ करते समय वो अरणित और बहुत प्रकार है सामान्य लोग दो लकड़े और एक रख करके थोड़ा उसमें रख करके इसे घिसेंगे घिसते घिसते अग्नि प्रकट हो जाती है इस प्रकार धरे के साथ मथन करना पड़ता है अग्नि प्रकट होने तक यहाँ इस प्रकार ज्ञानाग्नि का प्राकट्य करना है ज्ञान रूप अग्नि प्रकट होने तक ही यहाँ मथन करना पड़ेगा तो कैसे मथन करना है पहले आत्मान अरणिम कृत्वा यहाँ आत्मा शब्द से अंतकर्ण लेना अंतकर्ण में देह में सब में आत्मा शब्द प्रयोग करते अन्य अंतरात्मा प्राणमय मनमय में तो आत्मा शब्द अंतकरण अंतकर्ण को अरणिम करके नीचे काट करके और प्रणव च उत्तरायणी प्रणव ओंकार उत्तरायणी करके और उसका मथन कैसे ज्ञान निर्मथनाभ्यासाद ज्ञान है अहम सर्वात्मक उसका निर्मथन नितरा मथनम बिल्कुल मथन जैसे करके ऐसे आलोडन अहम अस्मी ब्रह्म विचार करके सब वाच्यार्थ को छोड़ करके शुद्ध चेतन लेकर के उसमें रहना निरंतर यही मथन अभ्यासाद ज्ञान निर्मथन अभ्यासात निर्मथन का अभ्यास थोड़े समय करके छोड़ दिया नहीं लगातार करते रहे साक्षात्कार संशय विपर नाश नष्ट होने तक तो ज्ञान प्रकट हो जाता है तो पंडित पासम दहती ये पंडित ज्ञानी पंडा संजाता स पंडित पंडाम इत पंडित पंडा है सदा सद बुद्धि अहम अस्मी ब्रह्म इस प्रकार बुद्धि अहम ब्रह्म अस्मि ये बुद्धि को यहाँ लेना पंडा खाली सत असत विवेक बुद्धि नहीं यहाँ अहमस्मी ब्रह्म से बुद्धि होने पर पंडित पासम दहती पासे बंधन बंधन वस्तु तो पास यहाँ अविद्या है अविद्या अविद्या कार्य सब को नष्ट कर देता है आत्मान टीका में आत्मान अंतकरणम आत्मा शब्द का तो अंतकरण अरणिम कृत्वा अरणिक मथन काष्ठ का नीचे का एक नीचे रहता है एक ऊपर रहता है अरण्यम क्या था वर्णिजनकम मंत्र संस्कृतम काष्ठम कृत्वा जनक काष्ठ कुछ अरण्य मंथन करते समय कर्म करते समय शास्त्रीय कर्म कुछ मंत्र बोल करके मंत्र से संस्कार शुद्ध होता है मंत्रेण संस्कृतम काष्ठम अरणि जनक काष्ठ करके और अधो विधाय नित्य रह करके अधरारणित्व चिंतित्व इत्यर्थ अंतकरण अधरारणी से चिंतन करें जैसे अग्नि प्रकट करते इस प्रकार यहाँ अग्नि प्रकट करना ज्ञान अग्नि को वहाँ रणि मथन करते समय नीचे रखते के काष्ठ इसी प्रकार यहाँ नीचे क्या रहेगा अंतकरण अंतकरण धरानी अंतकरण में ही अपर कुछ रख करके चिंतन करना मथन करना उत्तराणी प्रणवम ओंकारम उत्तरारणी उत्तरारणिम अपनी ओंकार शब्द में आग्रह नहीं है जो नहीं करते अर्थ चिंतन कर पाते शब्द जाप करते हैं ओंकार शब्द का अर्थ अ उ म मिलकर के ओम हुआ अ और उ मिलकर गुण हो गया ओम हो गया अ उ म में अ शब्द का अर्थ उ शब्द का म शब्द का अर्थ अ शब्द का अर्थ स्थूल है उ शब्द का अर्थ सूक्ष्म म शब्द का अर्थ कारण अ शब्द का अर्थ जागृत उ का अर्थ स्वप्न म का अर्थ सुश्रुति जागृत अभिमानी विश्व अ वह तेजस है और म है प्राज्ञ इस प्रकार अ उ म ओंकार की तीन मात्रा है और एक ओंकार की मात्रा है जिसको कहते अमात्रम अमात्रा रहित चतुर्थ है ओम ऐसे कह करके फिर और एक बार ओम कहेंगे तो बीच में व्यवधान होता है जो चतुर्थ मात्रा है आत्मा का भी चार पाद है प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पाद को तूर्य कहते तूर्य का तो चतुर्थ है जो आत्मा का चतुर्थ पाद है ये ओंकार का अमात्र वही अधिष्ठान ब्रह्म है अ को ऊ में उ को म में ओम कहने पर फिर बाद में शुरू होगा ओम अस्थूल को सूक्ष्म में लय करना और सूक्ष्म को कारण में कारण से सूक्ष्म होता है सूक्ष्म से तूल उत्पन्न होता है स्थूल प्रपंच का लय हो जाए सूक्ष्म में सूक्ष्म कालय हो जाएगा कारण में जैसे जागृत अवस्था में प्रपंच दिखता है सो जाने पर निद्रा स्वप्न अवस्था में स्थूल प्रपंच नहीं दिखता है उस तो समय जो प्रपंच दिखता है वो वासना में सूक्ष्म प्रपंच है स्थूल प्रपंच नहीं दिखा और गाढ़ निद्रा में सो जाने पर स्थूल प्रपंच दिखता है सूक्ष्म दिखता है कोई नहीं दिखता सूक्ष्म प्रपंच भी लीन हो गया कारण रूप अज्ञान में रहा सुश्रुति अवस्था में केवल अज्ञान रहा और चेतन रहेगा नहीं रहेगा चेतन अज्ञान का साक्षी अधिष्ठान रहेगा तो चेतन अज्ञान रहने से कारण शरीर हुआ अज्ञान विशेष अज्ञान ही कारण शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण और ज्ञान हो जाने पर समाधि अवस्था में माया अज्ञान एक है वो भी नहीं रहने से शुद्ध चेतन है चतुर्थ अज्ञान ब्रह्म से भिन्न नहीं है अनिर्वचनीय भिन्न नहीं अभिन्न नहीं उभय नहीं उसको अनिर्वचनीय कहते हैं यदि भिन्न मानेंगे तो क्या आपत्ति है द्वैत ब्रह्म तो एक है उसका और एक अज्ञान हो अज्ञान वास्तव पारमार्थिक नहीं है पारमार्थिक होगा तो जितने ज्ञान होने पर नष्ट नहीं होगा पारमार्थिक वस्तु का नाश नहीं होगा कोई कहते घट का तो नाश हो जाता है नाश हो जाता है मतलब पारमार्थिक नहीं पारमार्थिक वस्तु का नाश नहीं अभाव नहीं हो सकता है नाभाव विद्यत सतह सत्य पारमार्थिक पारमार्थिक का अभाव नहीं हो सकता है जिसका अभाव होता है वह पारमार्थिक है घट का अभाव कहीं होता है घट नष्ट होने का तो अभाव होगा घट जो है उस समय अभाव होता है हम्म? घट जहाँ है वहाँ उस समय अभाव है है अभाव है घट विद्यमान है तो भी अभाव है हम्म? अभाव है यहाँ जो घटे आपके कमरा में है क्या यहाँ जो पुष्प है अन्यत्र कहीं है अभाव नहीं ये पुष्प यहाँ हाथ में अभाव कहीं है इसका इसे हाथ को छोड़ के बाकी सर्वत्र अभावी जो विद्यमान पुष्प का अभाव हो सकता है हैं विद्यमान पुष्प एक स्थान में है अभाव अनेक स्थान में है बहुत इसको छोड़ के बाकी सर्वत्र तो अभाव बहुत स्थान में है इसलिए भाव जितने स्थान में है अभाव से अधिक स्थान में है जितने आपके पास है इससे अधिक अभाव है जितने बुद्धि है उससे अधिक अभाव है जितने किसके पास धन है उससे अधिक धन का अभाव है जिसके पास जितने धन है और धन पृथ्वी में ब्रह्मांड में कहीं है या नहीं अपने पास धन अधिक है ब्रह्मांड में अधिक है तो अपने पास धन अधिक है धन का अभाव अधिक है अभावती की अपने पास बुद्धि है आपके पास जो बुद्धि है ऐसे कितने बुद्धि का अभाव है जिसके पास कोई बुद्धि है उसको छोड़ करके और कोई शास्त्र और कोई विद्या और कोई कला है कितने शास्त्र कितने विद्या कितने कला कितने पदार्थ है कितने विषय का अज्ञान है तो आपके पास ज्ञान ज़्यादा है अज्ञान ज़्यादा है हाँ इसलिए ज्ञान का ज्ञान के कारण बुद्धि विद्या धन के कारण किसी प्रकार अभिमान नहीं करना समझना चाहिए उस समय मेरे पास अधिक है तो उससे कितने अधिक ब्रह्मांड में जिसका अभाव है तो अभाव अधिक है या भाव अधिक है भाव को लेकर घमंड करते तो अभाव को लेकर अपने को मूर्ख क्यों नहीं मानना <laughs> थोड़े बुद्धि को लेकर अपने को बड़े बुद्धिमान कितने बुद्धि का अभाव है जो बुद्धि किसके पास है उसके कितने प्रकार बुद्धि का अभाव है बहुत बड़े बड़े बुद्धि नहीं सामान्य सामान्य बुद्धि का भी अभाव है बड़े बड़े काम करने के लिए तो असामर्थ्य है छोटे छोटे काम करने के लिए सामर्थ्य नहीं है आपके पास कोई आकर मिस्त्री काम करता है वो मिस्त्री काम आप कर सकते हो क्या ईट ईट जोड़ करके दीवार बनाना कोई कहेगा हम बना देंगे लकड़ी काम करने वाला वो काम कर लोगे लकड़ी काम करने वाला नहीं है वो बना दो अच्छा वो बना दे तो फिर कभी बड़ा बनाना पड़ेगा तब तो बना दोगे दूसरे से कारीगर बुलाना पड़ता है कोई बना खाद्य बनाने के लिए बड़ा मतलब छोटा बड़ा नहीं <laughs> सांभर कुछ खाद्य बनाना है आप बना सकते हो नहीं दूसरे को बनाना तो खाद्य में विभिन्न पदार्थ है कोई अच्छा बनाने वाला है कोई दूसरे चीज का इसको बनाओ कहा नहीं ये तो हम नहीं जानते कभी नहीं बनाए जितने प्रकार वस्तु खाद्य बनाते हैं कोई पाचक है सब प्रकार जानता है नहीं कितने प्रकार पदार्थ है दक्षिण भारत में कितने पदार्थ उसका नाम कहेंगे तो आपको उच्चारण करना भी कठिन हो जाएगा नाम सुन करके उसको कहना इसी प्रकार सब प्रांत में अलग अलग क्या क्या नाम है नाम भी नहीं सुने अब बनाना कहाँ है तो अज्ञान बहुत का है बनाना तो कुछ जानता है नहीं बनाना बहुत पदार्थ है जिसको बनाना नहीं जानते हैं इसी प्रकार अभाव बहुत ही तो घट का अभाव है इसलिए घट देश परिचन्न काल परिचन्न वस्तु परिचन्न है ब्रह्म का अभाव कहीं नहीं है कहीं यदि अभाव हो जाएगा वो वस्तु परिचन्न हो जाएगा और देश परिचन्न भी हो जाएगा कोई उससे भिन्न होगा तो वस्तु परिचन्न हो जाएगा कहीं उसका अभाव होगा तो देश परिचन्न हो जाएगा ब्रह्म देश काल वस्तु परिचन्न नहीं है ऐसे ब्रह्म है ज्ञान कहा था हाँ नहीं अच्छा मंत्र अभी ओंकार उत्तरायण उत्तरायण में हाँ ये ओंकार का अ म विचार करके जो अधिष्ठान चेतन शुद्ध ब्रह्म है वो मैं हूँ ये है ओंकार अरणाम अरण मंथनी का ओंकार उत्तरायणी उत्तरायणी ओंकार ओंकार शब्द से नहीं लेकर के ओंकार अर्थ का चिंतन करना ओंकार शब्द आलम्बन है उसका प्रतीक है वाचक है तो अंतकरण में चिंतन करना ओंकार शब्द का अर्थ स्थूल का सूक्ष्म सूक्ष्म का कारण में कारण को अधिष्ठान चेतन ब्रह्म में ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं है अविद्या माया भी नहीं है इसलिए ब्रह्म देश काल वस्तु परिचय रहित वही ब्रह्म है सबका अधिष्ठान अंतकण उसका चिंतन करना अपना स्वरूप आपका प्रतिबिंब अंतकण में दिखता है बिंब रूप अधिष्ठान चेतन को नहीं जान करके अंतकण में जो प्रतिबिंब चिदाभास दिखता है उसको मैं मानते हैं उसको मैं मान करके अंतकरण धर्म को आत्मा में आरोप करते हैं अंतकरण के साथ आत्मा का एकत्व अध्यास हुआ तादात्म अध्यास धर्मी अध्यास कहते हैं होने से अंतकरण का धर्म दिखता है आत्मा में लौह पिंड अग्नि का एकत्व अध्यास होने से अग्नि का दाहकत्व कहाँ दिखता है लोह में लोह का वर्तुरत्व अग्नि में दिखता है इसी प्रकार अंतकरण का सुख दुख संसारित्व सब दिखता है चेतन में और अधिष्ठान चेतन का चैतन्य दिखता अंतकरण में चेतनो हम करूमी मैं चेतन हूँ मैं हम करूमी हम सुखी हम दुखी चेतनो हम सुखी दुखी अंतकरण में चैतन्य और आत्मा में सुख दुख आरोप करके मैं चेतन हूँ मैं सुखी दुखी ये भ्रांत होता है अधिष्ठान चेतन को समझे यही अंतकरण में चिंतन करके स्थूल सूक्ष्म कारण का निराकरण करके अधिष्ठान चैतन्य मैं हूँ यही चिंतन करना यही मतन है उत्तरायण में चकार कृत्वा अनुवृत्थ प्रणवच प्रणवंच उत्तरायणी उत्तरायणीम कृत्वा आगे ज्ञान निर्मथन ज्ञान निर्मथनाभ्यासात ज्ञान से निर्मथन ज्ञान से सर्वात्मक अहम अस्मी तेव रूप से यही ज्ञान है सर्वात्मको अहम अस्मी ये ज्ञान अहम सर्वात्मक अस्मी सर्वात्मक ही मैं हूँ सर्व आत्मा से सर्वात्मक सब कुछ मेरा स्वरूप है आत्मा मैं ही सब कुछ हूँ यही ज्ञान है सर्वम खलुदम ब्रह्म ब्रह्म सब है और अहम अस्मी ब्रह्म तो सर्वो अहम अस्मी सर्वम अहम अस्मी मतलब मेरे से बिना और क्या है कुछ नहीं ये वासुदेव सर्वम कहो अहम ब्रह्म कहो सर्वम ब्रह्म कहो एक तत्व है यही ज्ञान है इसको छोड़कर बाकी जितने सब है अज्ञान है अज्ञान का कार्य है एक विद्या अहम अस्मी ब्रह्म उसको छोड़ के बाकी सब अपरा विद्या सर्वात्म को हम अस्मित एवं रूप से निर्मथनम यही सा ज्ञान का मथन फिर क्या करना युक्ति भी विलोडनम यही मथन है विलोडन मथ विलोडन है मथन करना तो उसका निरंतर उधर उधर करके फेंटना युक्ति से विलोडन करना युक्ति से बार बार चिंतन करना अहम सब ब्रह्म अहम ब्रह्म ऊपर ऊपर लगता है समझ में आ गया मैं ब्रह्म हूँ किंतु अहम शब्द का अर्थ का विचार करना यही बिलोडना ऐसे दूध दही मथन करके उसमें मक्खन निकालते हैं मथन करके के उसे सार निकालना है इसी प्रकार अहम तो सब को मालूम है मैं मैं मनुष्य अब मैं कौन हूँ जान विचार करना यही मथन है अहम शब्द का अर्थ लक्ष्यार्थ को निश्चय करना प्रकट करना यही मथन मथन करके मखन ऊपर आ जाता है हम कहते समय पहले थोड़ा सा उपस्थित हो जाता है नख से शिका लेकर के मनुष्य उसके बाद अं, उस अं, प्राणमय मनमय विज्ञानमय आनंदमय कोष पांच विचार करना स्थूल सूक्ष्म कारण ऐसा करके अधिष्ठान चैतन्य वास्तव है जो सार है बाकी सब अध्यस्त है अध्यस्त और अधिष्ठान दो पदार्थ में सार कौन होगा अधिष्ठान बाकी अध्यस्त पदार्थ सार नहीं है अध्यस्थ पदार्थ जो असार है उसको छोड़कर अधिष्ठान को जानना प्रकट करना यही मथन मथन इसे करते करते अधिष्ठान चैतन्य शुद्ध चैतन्य का प्राकट्य बिल्कुल साफ अंतकण हो जाएगा तो शुद्ध चैतन्य में अहम बुद्धि अहम शब्द से शुद्ध ग्रहण हो गया तो ब्रह्म के साथ एकत्व करने के लिए और कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं शुद्ध को समझते ही देखना कि वही ब्रह्म है शुद्ध चेतन अधिष्ठान चेतन एक ही चेतन है ये युक्तियों से विलोडन करना युक्ति है शरीर मेरा है तो मैं शरीर नहीं हूँ आपका मकान है तो आप मकान है या दरवाजा है दीवाल है नहीं कुछ नहीं आपका मकान है मकान का अवयव मकान में जो कुछ धर्म वो आप में है क्या आपका दंड है आप दंड नहीं आपका वस्त्र है आप वस्त्र नहीं इसी प्रकार आपका देह है आपका प्राण है आपका मन है आपकी बुद्धि है तो आप मन है या बुद्धि है जो आपका है वो आप नहीं है जब मेरा है वो मैं नहीं हूँ मेरा होता है मेरे से भिन्न को मेरा कहते मेरे से भिन्न को मेरा तो शरीर भी मेरा कहते तो मेरे से भिन्न है और जिसको हम देखते हो अपना अपने से भिन्न है जिसको हम जानते हो अपने से भिन्न है इस पुष्प को आप देखते हो ये पुष्प का रूप है आप या पुष्प आप है आप पुष्प नहीं पुष्प का रूप भी नहीं किंतु तो पुष्प का रूप आप में है या नहीं नहीं जो लोग सफेद वस्त्र पहने ये पुष्प का रूप आप में है या नहीं आपके वस्त्र में है नहीं वस्त्र में है ना <laughs> ये पुष्प का रूप यदि आपके वस्त्र में हो जाएगा अब पुष्प को हम फाड़ देंगे तो आपके वस्त्र <laughs> नहीं रहेगा ये पुष्प का रूप यदि आपके वस्त्र में है आप पुष्प रूप का बंद कर दिया आपका वस्त्र दिखना नहीं नहीं दिखना चाहिए ये पुष्प का रूप सफेद वस्त्र जो पहने आपके वस्त्र में है या नहीं इसके सजातीय रूप है ये रूप नहीं है तो जिसको हम देखते हैं आप जिसको देखते हो आप है आपका धर्म है आप नहीं आपका धर्म नहीं ये जो रूप आपका धर्म नहीं है जिस पुष्प को देखते ये जो रूप दिखता है रूप आपका धर्म है क्या जिसको आप जानते हो वो आप नहीं आपका धर्म नहीं ये इसको निश्चय करना जिसको मैं जानता हूँ वो मैं नहीं हूँ मेरा धर्म भी नहीं तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर को ज्ञान को आप जानते हो मेरा अज्ञान मैं इस विषय में मैं नहीं जानता हूँ स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को आप जानते हैं वह आप नहीं है और सुख दुख को आप जानते हैं नहीं अनुभव करते हैं नहीं तो सुख दुख आप ही आपका धर्म है जिसको हम जानते हैं वो हम नहीं है हमारा धर्म भी नहीं तो सुख दुख का अनुभव आप करते हो नहीं तो सुख दुख में कौन आपका धर्म है सुख या दुख जिसको हम जानते हो हम तो नहीं हमारा धर्म भी नहीं तो सुख दुख जो आप जानते हो सुख दुख आप में है या दूसरे में है दूस आप के आप दूसरे सुख दुख का अनुभव नहीं करते साक्षात दूसरे सुख दुखों का साक्षात्कार आपको होता है नहीं अपने सुख दुख का साक्षात्कार होता है अपना सुख दुख अपने स्वयं नहीं स्वयं नहीं हो तो अपना धर्म भी नहीं है जिसको हम जानते हैं वो हम नहीं हमारा भी नहीं आप में में सुख दुख है ही नहीं अंतकरण में सुख दुख है आप देखते हैं जानते हैं देखना जानना एक ज्ञान जानते हैं आप जिसको जानते हो आपका धर्म नहीं है सुख दुख भी आप में नहीं है आप में रहेगा तो उसको आप नहीं जान सकते तो आप में नहीं जिसको हम जानते हो हमारे हम नहीं है हमारा धर्म भी नहीं जैसे रूप घट घट भी हम नहीं घट का रूप हम नहीं हम में घट नहीं हमें रूप नहीं घट का रूप हमें नहीं है पुष्प का रूप आप में नहीं है इसी प्रकार विचार करना जो वस्त्र आप में पहने वस्त्र का रूप आप में है क्या वस्त्र का रूप वस्त्र में रहेगा आप में नहीं है इसी प्रकार सुख दुख भी आप में नहीं अज्ञान भी आप में नहीं यही विचार करना युक्तियों से युक्ति से विलोडन बार बार करने से जैसे दधि से मख मक्खन प्रकट हो जाता है इसी प्रकार ये जो अध्यस्त पदार्थ उनको सब छोड़ना जिसको हम जानते हो मिथ्या है जिसको देखते हो हमारे से भिन्न है वो सब मिथ्या है जिस प्रकार स्वप्न प्रपंच स्वप्न प्रपंच आप जिसको देखते हैं उसमें से कोई मिथ्या है ना सब सत्य है सब मिथ्या है जगने पर कुछ नहीं रहता है इसी प्रकार जागृत प्रपंच जिसको हम जानते हो मिथ्या है दिग्ग रूप चेतन एक है वो स्वप्न अवस्था में है जागृत में है हैं स्वप्न में है जागृत में सुश्रुति में है वो दृग रूप चेतन तीनों अवस्था में रहने वाला अव्यभिचारी है और जिसका व्यभिचार होता है कभी रहता है कभी नहीं रहता है वह सदरूप आत्मा नहीं है सदरूप आत्मा तीनों काल में रहने वाला वही मैं हूँ यही ज्ञान निर्मथनाभ्यास युक्त से विलोडन तस् अभ्यास उसका अभ्यास जैसे कहा इस बार बार आवृत्ति अभ्यास विचार करते करते लक्ष्यार्थ निश्चय करने तो शुद्ध चेतन में ऐसा निश्चय होते तब तो समय कर, होते तो करना पड़ेगा बार बार आवृत्ति रूप वो ज्ञान निर्माथनाभ्यास तस्माद उससे उत्पन्न होता है ज्ञान निर्मथनाभ्यासात पासम दहती अभ्यास से ही दह करना करने अभ्यास से उत्पन्न होता है साक्षात्कार संशय विपर रहित ज्ञानी ज्ञान तो तस्माद उत्पन्न न अहम ब्रह्मास्मृति साक्षात्कार अग्निना यही ज्ञान निर्मथन अभ्यास से उत्पन्न होता है ज्ञान ज्ञान रूप अग्नि ज्ञान कैसा है अहम ब्रह्मास्मि अहम अस्मि ब्रह्म ब्रह्म और अहम दो नहीं है दो शब्द है अर्थ एक ही पहले अज्ञान अवस्था में लगता है मैं अलग ईश्वर अलग ब्रह्म अलग है जब शुद्ध लक्ष्यार्थ को ले लिया दृग रूप चेतन एक ही अधिष्ठान अहम शब्द का जो अर्थ है ब्रह्म शब्द का भी अर्थ है तो अहम ब्रह्म शब्द में भेद रहेगा शब्द में भेद नहीं रहेगा हाँ शब्द में भेद रहेगा वाच्यार्थ में भेद रहेगा लक्ष्यार्थ में हाँ ये सोती है सरल है थोड़े आराम से बैठ जाओ तो सरल में भी फिर संशय हो जाएगा अहम ब्रह्म शब्द में भेद है क्या लक्षार्थ में एक ही चेतन ऐसा साक्षात्कार अग्नि से पासम दहती पासे बंधन आत्मन बंधन रूपम यही पासे बंधन आत्मा को बांधने वाला ये अज्ञान ऐसा है आत्मा में आश्रित होकर के उसको ढाकता है उसमें प्रपंच बनाकर दिखाता है उसको नचाता है नचाता जैसे नचाता नहीं सकता है जैसे दीवाल में रंग लगाते हैं रंग पेंट लगाते हैं उसका आश्रय दीवाल है वो रंग लगाने पर दीवाल को ढाक दिया और चित्र बना दिया उसमें कुछ दिखता है चित्र दीवाल में चित्र बनाते हैं रंग लगा करके और मनुष्य पशु जंगल समुद्र सूर्य चंद्र क्या क्या बना देते हैं तो यो दिखता है चित्र ही दिखता है दीवाला नहीं दिखता है दीवार नहीं दिखेगा तो चित्र दिखेगा दीवार तो सामने है किंतु रंग उसमें रह करके आश्रित हो करके और दीवार को ढा करके चित्र दिखा देता है ये माया इस प्रकार स्वयं आश्रित होकर ब्रह्म में ब्रह्म को आवृत करके ये जो नहीं है जो दीवाल है वो दिखता नहीं जो नहीं है चित्र जंगल दिखता है इतने सुंदर बना देते हैं तो देखेंगे तो जंगल चित्र तो ऐसे चित्र वास्तव ऐसे चित्र जो बनाने वाले ऐसे बनाते हैं कभी ऐसे बड़े चित्रकार को राजा लोग लेकर बनाते थे दीवाने में ऐसे बना दिया तो इधर देखो तो जंगल भ्रम हो जाएगा जंगल भ्रम हुआ था ना जल बुद्धि काच में दुर्योधन को ऐसे बनाया था तो सोचा जल है <laughs> कपड़ा टेकर चला जहाँ कांच वहाँ जल बुद्धि जहाँ जल है वहाँ फिर <laughs> भी गया तो ऐसे रंग बनाते ऐसे दिखता है दिखेगा जंगल दिखते ही लगा जंगल और दिवाला नहीं दिखेगा दिखेगा जंगल जो है उसको छिपा दिया जो नहीं वो दिखता है जंगल नहीं है दिखता है इसी प्रकार है ये प्रपंच नहीं है उसको दिखाती है माया और जो ब्रह्म है उसको ढाक देती है इसे उसको पास ही बंधन है बंधन रूपम अज्ञान रज्जु रचितम ये बंधन कैसे हुआ अज्ञान रज्जु से बना गया पास बंधन रूप अज्ञान रज्जु है अज्ञान रज्जु से ही बंधन है अज्ञान रज्जु से ग्रंथि होती अहम ममादि ग्रंथि यही अज्ञान से बनता है अहम मम ग्रंथि गांठ है ये अध्यास अधिष्ठान चैतन्य का आवरण हो जाने से मिथ्या वस्तु में अहम बुद्धि देह में अहम बुद्धि होगी देह अहम कोई नहीं कहता अहम देह किंतु अहम मनुष्य मैं पुरुष हो ये बुद्धि है या नहीं अहम मनुष्य जो बुद्धि है ये अहम बुद्धि और देह संबंधी ममत्व तो बुद्धि अहम मम आदि बुद्धि अहम मम और इदम मधिष्टम ये सब जितने ये सब ग्रंथि है ग्रंथि गांठ है मजबूत होता है उसको खींचते जाओ तो और दृढ़ हो जाता है कोई धागा में गांठ लग गया उसको खोलने के लिए खींचो दोनों तरफ खुल जाएगा और कठिन हो जाए इतने कठिन हो जाएगा फिर खोल नहीं पाएंगे ऐसा है कहीं में रस्सी में ग्रांति हो गया तो और कुछ नहीं खोल नहीं पाएंगे तो थोड़ा और मजबूत कर देते चलो ग्रांति इसमें रहने दो ये ग्रंथि इस प्रकार ग्रंथि के समान बड़े उसको दहन कर देते अग्नि ये सामान्य अग्नि दहन नहीं कर सकती ज्ञान रूप अग्नि भस्मी करोती इति दहती का तो भस्मी करोती कौन करता है भस्म पंडित पंडा है अहम ब्रह्मास्मी बुद्धि पंडाम इत पंडित इत धातु क्या है इतच प्रत्यय होकर भी बनता है और पंडामित पंडित भी बन जाता है इत का तो प्राप्त पंडित ओम सहनावतु